खुद को पब्लिक टॉयलेट के सामने खड़ा देख विक्रांत का दिमाग फिर गया उसने गुस्से से भरी निगाहों से अपने कुत्ते की तरफ देखा और फिर उसकी पीठ पर जोर से लात मारते हुए चिल्ला पड़ा बक्स साले जब देखो जब टॉयलेट के पास ही लेकर आता है अबे महाराज मैं आदमी ढूंढने को कह रहा था आदमी मुझे टॉयलेट नहीं जाना है क्या करूं इस कुत्ते का मैं लात पड़ने से कुत्ता दर से खड़ा उठा फिर भी वो विक्रांत के आसपास दुम हिलाता हुआ चक्कर मार रहा था इसके साथ ही वो भौंके भी जा रहा था उधर विक्रांत के साथ आए हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने इस कुत्ते को बहुत ही सीरियसली ले लिया था उन्हें लगा सच में रोनित इसी पब्लिक टॉयलेट में कहीं छुपा हुआ है सो वो लोग पूरी टीम के साथ अंदर टॉयलेट में दाखिल हुए जबकि विक्रांत को अपने कुत्ते की काबिलियत पर यकीन था उसे पता था कि टॉयलेट के अलावा कुछ नहीं खोज सकता सो वो बाहर ही हैरान परेशान होकर अपना सिर खुजाता रहा उधर जब ये लोग अंदर टॉयलेट में घुसे तो वहां पर लेडीज और जेंट्स दोनों तरह के टॉयलेट थे लेडीज टॉयलेट के गेट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी इतने सारे पुलिस वालों को एक साथ देखकर वो घबरा उठी और घबराहट के मारे वो पीछे टॉयलेट के भीतर में ही गिर पड़ी खैर पुलिस को वहां टॉयलेट के भीतर कुछ कुछ नहीं मिला विक्रांत अपने कुत्ते को लेकर वापस बुक स्टोर के गेट के पास आ गया वहां थोड़ी देर बाद नैना भी पहुंच गई वो अपनी टीम के साथ बुक स्टोर की तलाशी ले रही थी लेकिन इन लोगों को भी वहां पर सुमोना अरोड़ा के होने का कोई सिग्नल नहीं मिला ऐसा लग रहा था कि सुमोना को कहीं और रखा गया है घर के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर रोनित का घर था नीचे उसने शॉप खोल रखी थी और ऊपर वो रहता था अभी नैना यहाँ आकर खड़ी हुई थी कि अमित भागता हुआ उसके पास आ पहुंचा उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा मैडम ये बुक स्टोर के अगल बगल में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है मैं घर के मालिक का पता लगाकर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ हो सकता है उनसे कुछ पता चले हम्म, गुड जल्दी पता करो नैना ने जवाब दिया इसके बाद अंदर बुक स्टोर की तरफ से देव बाहर निकल आया मैडम सेकंड फ्लोर पर इसका घर है सो वहां पर भी कुछ मिला नहीं इसके बेडरूम में से सिर्फ कुछ कैश पैसे बरामद हुए बाकी कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है ना आधार पैन कोई बैंक का पासबुक वगैरह भी नहीं मिला है इसके पर्सनल कंप्यूटर में भी कुछ नहीं मिला राघव बोल पड़ा कंप्यूटर में सिर्फ बुक स्टोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वहीं कितनी बुक आई कितनी गई बस यही सब डेटा है कुछ खास नहीं मैडम मुझे तो लगता है कि ये इसका घर नहीं है इसका परमानेंट ठिकाना कहीं और है यहाँ वो बस आता जाता रहता है दे में थोड़ा शक जताते हुए कहा क्योंकि अगर ये इसका घर होता तो कम से कम इसके माँ बाप की एक फोटो तो मिलती यहाँ पर ये अपने माँ बाप से इतना प्यार करता है और उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए सीरियल किलर भी बन गया तो फिर उनकी एक भी फोटो घर में क्यों नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है हम्म, ये बात भी सही है नैना ने देव की बातों से सहमति जताते हुए कहा अच्छा मैं सुनिधि को बोलती हूँ इसकी और प्रॉपर्टी या घर का पता लगाने के लिए इसके नाम से जितनी भी प्रॉपर्टी है हम सब जगह जाकर खोजबीन करेंगे लेकिन तब तक तुम लोग अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करते रहो देव और राघव से बात करने के बाद नैना की नजर विक्रांत पर पड़ी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ तुम्हारे कुत्ते को ठीक है वो अब विक्रांत ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया अच्छा मैं हेडक्वार्टर फोन से डॉग स्क्वाड को बुला लेती हूँ इतना कहकर नैना ने फिर से पुलिस स्टेशन फोन किया वहां उसने डॉग स्क्वाड भेजने का ऑर्डर दिया और साथ ही रोनित बनर्जी की फैमिली और रिलेटिव के बारे में भी पता करने के लिए कह दिया अभी नैना फोन पर बात कर ही रही थी कि वहां पर एक पुलिस वाला भागता हुआ पहुंचा मैडम वो स्पेशल टास्क से विनोद राय सर की टीम पहुंच चुकी है वो लोग यहाँ पूरे एरिया के एक एक घर की तलाशी भी ले रहे हैं ये साले कमीने विक्रांत दांत पीसते हुए बोल पड़ा इन कमीनों की ही वजह से ये रोनित भाग निकला और अब ये साले क्रेडिट लेने आ गए हैं बस ठीक है कोई नहीं वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो नैना ने कुछ सोचते हुए कहा बस तुम लोग एक काम करना उन पर पूरी नजर बनाए रखो उनकी एक एक एक्टिविटी की रिपोर्ट चाहिए मुझे ओके मैडम उस पुलिस वाले ने नैना का ऑर्डर सुना और फिर तुरंत ही वहां से निकल गया साला मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस साले विनोद को रोनित के बारे में पता कैसे चला ये साला हमसे भी एक कदम आगे चल रहा था विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा ये स्पेशल टास्क वाले बैंक के विक्टिम्स की फैमिली पर अपनी नजर बनाए हुए थे नैना ने कहा और वहीं से स्पेशल टास्क वालों को यह पता चला कि बदलापुर हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट भी इस केस से रिलेटेड है और वहीं से उन्हें रोनित के बारे में पता चला लेकिन जहां तक मुझे लगता है स्पेशल टास्क वालों को यह नहीं पता था कि रोनित ही इस केस का मुजरिम है राइट बिल्कुल सही विक्रांत ने नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा मुझे भी यही लग रहा था अच्छा अब हम लोग क्या करें अब सबसे पहले तो हमें सुमोना का पता लगाना होगा नैना ने जवाब दिया वो पिछले चार दिन से गायब है और अगर उसे बिना खाना और पानी के रखा गया होगा तो फिर उसकी हालत अब खराब होने लगी होगी अगर हमने उसे जल्द से जल्द नहीं ढूंढा तो फिर उसकी जान भी जा सकती है किसी भी कीमत पर हमें उसे मरने से पहले खोजना होगा हम अब इस कमीने रोनित बनर्जी के हाथों सातवें विक्टिम की मौत नहीं होने दे सकते विक्रांत ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया और फिर वो मन ही मन सोचने लगा आखिर ये रोनित कहाँ छुपा हो सकता है यहाँ से भाग के वो किधर गया होगा कैसे भागा कैसे होगा यहाँ से वहां अमरूद के पेड़ पर मास्क लटका हुआ था और वो कोई नॉर्मल मास्क नहीं था वो जहरीली गैस के इफेक्ट से बचने के लिए जो मास्क यूज किया जाता है वो वाला मास्क था और अंदर सीढ़ी से ही वो खिड़की खुली हुई थी ये सब देखते हुए तो यही लग रहा है कि जब स्पेशल टास्क वाले रोनित को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे होंगे तब उसने वहां जहरीली गैस छोड़ दी और फिर खुद के चेहरे पर मास्क लगा लिया गैस के इफेक्ट से स्पेशल टास्क वाले बेहोश होने लगे और फिर मौका पाकर रोनित खिड़की से बाहर निकलकर पेड़ के सहारे जमीन पर उतर गया होगा और फिर यहाँ से भाग गया लेकिन इतनी जल्दी वो भाग कर जाएगा कहाँ कहाँ भाग सकता है वो लेकिन वो सुमोना का है उसे कहाँ रखा होगा इसने साथ में लेकर तो भाग नहीं सकता अभी विक्रांत ये सोच ही रहा था कि नैना का फोन फिर से बज पड़ा ये कॉल टीम बी के इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से थी उसे नैना को बताया कि रोनित की एक्टिविटी अभी दो मिनट पहले ही रिकॉर्ड की गई है उसने अभी कुछ मिनट पहले ही गोरेगांव रेलवे स्टेशन के पास के एटीएम से तकरीबन चालीस हजार रूपए निकाले ये खबर सुनकर नैना तुरंत चौकन्नी होगी उसने फोन रखते हुए तुरंत ही अपने फोन से गोरेगांव स्टेशन का मैप खोल लिया फिर उसने बोलना शुरू किया ये यहाँ से वो इस रास्ते से गया होगा और फिर एटीएम पहुंचकर उसने अपने अकाउंट का सारा पैसा खाली कर दिया एक दिन में जितना पैसा निकल सकता है सब उसने निकाल लिया उसे ये बात अच्छे से पता है कि पुलिस बहुत जल्द ही उसका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा सकती है इसीलिए उसने अपने काम भर का पैसा निकाल लिया मैडम मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से भागने की फिराक में है वो गोरेगांव रेलवे स्टेशन के पास में है हमें फटाफट वहां पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए देव ने नैना की तरफ देखते हुए कहा हम्म चलो नैना तुरंत ही टीम बी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स को गोरेगांव रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने का आर्डर दे दिया और फिर वो खुद भी फटाफट गाड़ी की तरफ निकल पड़ी कुछ तो गड़बड़ है कुछ छूट रहा है ऐसे कैसा हो सकता है ये आदमी इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा विक्रांत मनी मन सोच रहा था इतना बड़ा मर्डर केस इस आदमी ने छह लोगों को मारकर लॉकर के अंदर पैक कर दिया है पुलिस इतने दिन से इसके पीछे है फिर भी कुछ खबर नहीं भला ये कुछ पैसे के लिए इतना बड़ा क्लू कैसे दे सकता है जो आदमी इतना शातिर है उसे भलाई ये बात तो पता ही होगी कि एटीएम से पैसे निकालने पर पुलिस को तुरंत उसके बारे में पता लग जाएगा तो फिर उसने ऐसा क्यों किया विक्रांत गहरी सोच में डूबा हुआ था और दूसरी चीज उसे पैसे की कौन सी कमी है जो आदमी दस दस साल के लिए छह लॉकर का रेंट भर रहा है वो महज चालीस हजार रूपए के लिए खुद को इतने खतरे में क्यों डाल रहा है ये कहीं इसकी कोई साजिश तो नहीं है ये पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है चालीस हजार रूपए के लिए इतना शातिर अपराधी कभी भी इतना रिस्की गेम नहीं खेलेगा विक्रांत तुम आ रहे हो नारायण गाड़ी में बैठते ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा नहीं तुम रुक जाओ यहाँ भी तो किसी का रहना जरूरी है मैं इधर ही रुकता हूँ विक्रांत ने कहा उसे ना जाने क्यों इन लोगों के साथ जाने की इच्छा नहीं हो रही थी ठीक है फिर तुम ध्यान रखना कुछ पता चले तो रिपोर्ट करना मुझे नैना ने कहा और इसके साथ ही उसने गाड़ी का डोर बंद कर दिया नैना पूरी टीम के साथ गोरेगांव स्टेशन के लिए रवाना होगी अब यहाँ बुक स्टोर के पास सिर्फ विक्रांत अकेला रह गया इन लोगों के जाने के बाद विक्रांत फिर से रोनित के बारे में सोचने लग गया उसे अभी भी कुछ न कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा था अगर रोनित बनर्जी सच में बैंक के सीरियल मर्डर केस का कातिल है तो फिर उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी ये बात तो सभी इन्वेस्टिगेटर शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस केस का मुजरिम पक्का खूब पैसे वाला है और उसके पास वक्त भी है ऐसे में अगर रोनित बनर्जी के पास खूब पैसा है तो वो मात्र चालीस हजार रूपए निकाल कर पुलिस को अपनी लोकेशन क्यों बता रहा है वो जानबूझकर खुद को पकड़वाने की कोशिश क्यों करेगा कहीं इसके पीछे उसकी कोई दूसरी साजिश तो नहीं है अचानक उसे इस केस को लेकर एक और बात याद आ गई इस केस पर काम करते हुए विक्रांत ने ऑब्जर्व किया था कि कातिल बहुत जिद्दी कस्म का इंसान है वो अपने टारगेट को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एटीएम से चालीस हजार रूपए निकाल कर कुछ और ही मैसेज देना चाह रहा है विक्रांत बुक स्टोर के आसपास सड़क पर इन सब बातों को सोचता हुआ टहल रहा था तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी ये बोर्ड काफी पुराना सा लग रहा था बड़ी मुश्किल से बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ने में आ रहा था बोर्ड पर लिखा था मुकेश मील ओह मुकेश मील कहीं कहीं ये यहाँ विक्रांत का दिमाग घूम गया उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं रोने तो यहीं तो नहीं छुपा हुआ है